उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इसने लिखवा रखा है बस वही इसको सुबह शाम पढ़कर सुनाई जाती हैं